लौकिक पदार्थ नहीं है और ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर उसको किसी सुख की आवश्यकता नहीं रहती दूसरे भाग में ज्ञान के क्षेत्र जीव आत्माओं का गुण कर्म स्वभाव उसने जान लिया प्रकृति का भी गुण कर्म स्वभाव उसने जान लिया ईश्वर का भी जान लिया अब ज्ञान के क्षेत्र में उसकी जिज्ञासा इस रूप में कोई और चीज ऐसी जानी जाए जिससे मेरा सुख बढ़ जाए अथवा मैं अच्छी तरह उसको जान के संतुष्ट हो जाऊं यद्यपि जीवात्मा ज्ञानी है चेतन है वो इस स्थिति में तो रहेगा ही कि कोई चीज जान ली जाए तो कोई बाधा नहीं है ज्ञानी चेतन पदार्थ होने से जीवात्मा ज्ञान से घृणा नहीं करता पर एक स्थिति और होती है मुझे और सुख मिलेगा और मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा इस दृष्टि से जानने की इच्छा उसकी नहीं रहती इस ज्ञान से आगे कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो उसके उस स्तर से ऊपर सुख को दे सके तो इसलिए ऋषियों ने यह बात कही ज्ञातम ज्ञातव्यम जानना था सो जान लिया अब जानना शेष नहीं रहा आजकल जो परिश्रम करते हैं आप जितनी विद्या पढ़ते हैं यम नियम का पालन करते हैं निष्काम कर्म करते हैं इतने से क्या आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे आप बोलो संभव नहीं है आप बोलो नहीं कर सकते नहीं कर सकते कितना और करना पड़ेगा आपको बहुत अधिक बढ़ाना पड़ेगा हम्म आप बताओ अपना कितना और करना पड़ेगा आप तो हमारा प्रारंभ हुआ है आगे हम्म। और बहुत करना इस जन्म में कर लोगे या नहीं कर पाओगे कैसा देखता है लगभग समाधि तक पहुंचने का लक्ष्य है लगता है आप बोलो प्रयत्न करूंगा अच्छा आपके घर की और आकर्षण माता पिता का जैसे होता है प्रेम अथवा मोह वो नहीं सताएगा क्यों छोड़ तो दिया घर की दृष्टि से मन की दृष्टि से तो नहीं छूटा होगा अच्छा मन में जो जो संस्कार बने हुए हैं वो तो अभी विद्यमान होंगे वो तो विद्यमान कई और विचार आता है आता है ना तो क्या करते हो आप उसको रोक देते हो हाँ आपको अपने माता पिता से अधिक प्रेम है या ईश्वर से अधिक प्रेम है पहले उनसे रहा अच्छा। आपके माता पिता आपको क्या बनाना चाहते थे ऊंचा बोला करो जो सबको सुनाई दे सांसारिक बंदरों में जकड़ना चाहते जोड़ना चाहते थे अच्छा तो आप आए तो उनको बता के आए वैसे भाग के आ गए तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा तुम्हारी मर्जी है वापिस आ जाना मैंने कहा हमें नहीं पता ये वापिस आऊंगा या नहीं क्या कहा तुम्हारी मर्जी है और पूछा भी आप वापस आओगे कि नहीं हाँ तो मैंने कहा पता नहीं अभी हाँ आऊंगा कि नहीं अच्छा तो आप जब पढ़ करके अच्छे विद्वान बन जाओगे तो दोबारा ये योजना बनाएंगे क्या भाई अब गृहस्थ में चलो या नहीं, नहीं। उस समय पता चलेगा या अभी पता चल गया नहीं अभी से कर लिया निर्णय अच्छा हाँ। और जब दुखी होंगे आप कोई पूछेगा नहीं भिक्षा मांग के खाना पड़ेगा और लोग गालियाँ देंगे एक अट्टा कट्टा जवान है कमा के खाया नहीं जाता भिक्षा मांग के खाओगे तो फिर ये नहीं होगा कि भाई मैं कोई नौकरी वोकरी कर लेता तो कम से कम गाली नहीं खानी पड़ती ऐसा नहीं आएगा क्या तो आपसे भिक्षा मंगवाएं आप गाँव से पास आपका क्या विचार है हम्म? मैं भी नहीं जाऊंगा अच्छा आप अपने माता पिता से पूछ के आए थे वैसे पता ही नहीं उनको है? अच्छा पता चल गया होगा संभावना है और वो यहाँ के रोने धोने लग गए तो फिर क्या करोगे ऐसा नहीं करेंगे क्यों हमारी इच्छा के अनुसार वो मतलब कि आप जैसा चाहते हो वैसा अच्छा वो है और जी आपकी क्या स्थिति है हमारे घर में जानते हैं स्वामी जी हम्म। ये घर में रुकने वाला नहीं है अच्छा मेरे पिताजी ने मुझे अनुमति पहले दी थी हम्म। आने की तो उस समय मैं आ नहीं सका बार फिर पत्र भेजा कि और इस बार निश्चित है कि मैं और नहीं जाऊँ तो आप उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हैं हुँ? किसी दिन आपने कोई त्रुटि कर दी हुँ? यहाँ पर तो आपको धक्के दे करके बाहर निकाल दिया तो उस दिन चले जाओगे या धक्के देने पर भी यहीं रहोगे घर तो और नहीं जाएंगे ना यहाँ से चल के दूसरी जगह नहीं चाहे मर जाएंगे लेकिन ये योग पद को नहीं छोड़ेंगे हाँ। अच्छा और आपके जी आप भी बिना पूछे आए होंगे या बता के आए हो हम्म? तो फिर उनको पता लगेगा नहीं लगेगा क्या करोगे और जी आप आपके माता पिता को पता है या पूछ के आए आप या नहीं, अच्छा, फिर पूछ के क्यों नहीं आए आप वो तो उनको निर्णय तो देना चाहिए था कि मैं जा रहा हूं हम्म? आपका उन्होंने भेजा है या आप स्वयं आए हम्म अच्छा तो आप हम्म, इतना तप तपने के लिए तैयार हैं हाँ जी आपको ये मन में जचती है बात हम मन को पूरा जीत लेंगे आपको वहां तक पहुंचने के लिए जो विद्या निष्काम कर्म सूक्ष्मता से यम नियमों का पालन विवेक वैराग्य को प्राप्त करना तीन ऐषणाओं को जीत लेना दैनिक जीवन में सतत मन इंद्रियों पर अधिकार रखना मान मान आदि अवस्थाओं में शुभ न होना ये सब करना पड़ेगा आप कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि ईश्वर आपको सर्वव्यापक कहना चाहिए स्वीकार होता हो हम जीवात्माएं व्याप्ति ईश्वर व्यापक फिर लोक लोकांत सृष्टि व्याप्ति ईश्वर व्यापक फिर सत्वरज व्याप्य ईश्वर व्यापक कभी ऐसी स्थिति आती है सब बना के आप प्रयास करते हैं क्या हम्म? और भूतकाल में भी ये स्थिति ज्यों की त्यों थी व्याप्य व्यापक की अब भी वही व्याप्य व्यापक स्थिति आज ये जो अनंत काल में भी व्याप्य व्यापक स्थिति रहेगी क्या तीनों कालों में ईश्वर व्यापक और ये तीन वर्ग जो है ये व्याप्य ऐसा कुछ स्वीकार करता है आपका मन या नहीं करता हुँ? हम्म? या ऐसा विचार किया नहीं आपने हम्म? अच्छा कभी ऐसा दिखता है ये जो धीरे धीरे हम मर जाएंगे और मर करके पता नहीं क्या होगा और कहा जाएंगे ऐसा नहीं डर लगता आपको आप बोलो कभी कभी होता है <laughs> आप बोलो अपना अच्छा, अच्छा। आप बोलो लगता है ना लगता है ना ठीक है ना या ध्यान ही नहीं दिया कभी है? मरने के पीछे सुव्यवस्थित रहेंगे अगला भवन ऐसे ही विद्यालय जैसा मिल जाएगा और वहाँ सुख से कुछ खाएं पिए पड़ेंगे ऐसा जस्ता नहीं होगा इसको निश्चय रूप देने के लिए व्यक्ति को शब्द प्रमाण की सहायता लेनी पड़ती है अनुमान प्रमाण की भी लेनी पड़ती है इस स्थिति को ठीक करने के लिए जब हम विचार करते हैं कि मरने के पश्चात तो मूर्छित हो जाएंगे हम और यही पता नहीं कि क्या होगा कौन ले जाएगा कहाँ ले जाएगा क्या करेगा वो हमारा <laughs> ये आता है ना या नहीं दिखता है ना कभी कभी तो शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से हम इस सृष्टि की रचना को नियमों को देख करके इस स्थिति में पहुंचते हैं कि आगे मरने के पश्चात सुव्यवस्था है अर्थात अव्यवस्था नहीं है वर्तमान काल की व्यवस्था वर्तमान काल की शरीर आदि की रचना पशु मनुष्य आदि की भिन्न भिन्न जो ये निर्माण इसको देख करके हम ये मानते हैं कि ये व्यवस्था बुद्धिपूर्वक बलपूर्वक न्याय के अनुसार की गई है न्याय अनुरूप ये शरीरों की रचना पशु आदि मनुष्य की रचना है अर्थात या यूं मानना पड़े पड़ेगा आपको कि ये स्वतः हो गई है ये शरीर हमको मनुष्य का मिल गया उसको गधे को गधे का मिल गया कुत्ते को कुत्ते का मिल गया या तो ये मानो कि प्रकृति ने कर दिया ऐसा कैसे मानेंगे कोई कोई तो मार्ग आपको निकालना पड़ेगा या नहीं कोई न कोई तो अपना सिद्धांत बनाना पड़ेगा प्रकृति ने ऐसा बना दिया जैसे विकासवादी मानते विकास होता रहता विकास से हम मनुष्य बन गए कभी कभी व्यक्ति को विचार करना नहीं आता वहां वेद या ऋषियों को आधार मान के नहीं चलता है मान के चलिए तो वो स्वयं विचार करता है किन्हीं बातों का और विचार करने में वो अनुचित विचार करना भी आरंभ कर देता कई बार ये आपको देखने को मिले हों आजकल के पढ़े लिखे लोग जिनका कोई विशेष सिद्धांत नहीं होता वो अपने ढंग से सोचते जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कैसे सोचता हूं वो कहता मैं ऐसे विचार करता हूं कि मुझे जैसा बुद्धिमान धरती पर कोई नहीं है और जो मैं सोचता हूं वो ठीक और जब मेरी कोई बात नहीं माने तो मुझे बहुत दुख होता है <laughs> ख्याल समझ में आ वो सब विचारता है जैसे ये मानता है कि मुझे सब बुद्धिमान धरती पर कोई भी नहीं है और जो मैं सोचता हूँ वो ठीक है शत प्रतिशत और मेरी बात नहीं मानने वाला बहुत खराब है अच्छा आपकी आती है कभी ये बात मन में आप बोलो नहीं है या हटा देते हो आप बोलो पक्की नहीं होती हो झोल बोला तो होता होगा उसमें मतलब और किसको लगता है आप बोलो अपना है या इसको बुरा माना जाता है इसलिए अस्वीकार करते हो बुरा मानते ना इसको अच्छा प्रधानता तो अपनी बुद्धि की रहती है प्राय ये बताओ निर्वाचन में काट छांट में मंतव्य में अंतिम सुख दुख के साधनों में अपनी बुद्धि की प्रधानता रहती है नहीं रहती हाँ जी कौन बोलेगा आप बोलो रहती है ना आप बोलो कैसे कमर झुकाए क्यों बैठते हो नहीं रहती अपनी बुद्धि की प्रधानता हाँ जी या उग्र रूप में नहीं होती मंद रूप में तो होती है आप बोलो तो आप जो सोचते विचारते हो तो औरों से अच्छा मानते हो कि मैं औरों से ठीक मैं स्वयं औरों से ठीक सोच रहा हूँ है सबसे ठीक ऐसे नहीं मानता हूँ हाँ कुछ लोगों से आप बताओ कैसा दिखता है कुछ सीमा तक ठीक मानता हूँ अच्छा अच्छा अच्छा जैसे एक विचारधाराएं चलती हैं लोगों की देखो हमने इसको शरीर को मान लिया आंख नाक को भूमि को मान लिया सूर्य चंद्रमा को हमने स्वीकार किया है ये हमारे मानने के ऊपर है, हुआ कुछ नहीं दुनिया में हमने मान लिया इसलिए सूर्य दिखता है हमने मान लिया इसलिए शरीर कहते हैं हम इसको हमने ये मान लिया ये अच्छा ये बुरा वो है हुआ कुछ नहीं हमारे जानने के ऊपर है जैसा जाने वैसा माना जाता है ऐसा नहीं आता क्या कभी अच्छा आपने ऐसा मंतव्य पढ़ा नहीं सत्यार प्रकाश में क्या पढ़ा था कि ये संसार अभाव से भाव रूप माया है क्या समझे क्या समझ माया यह संसार अभाव से भाव रूप में आया है ऐसा है या नहीं कुछ मत है ना इन लोगों का या नहीं है पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा इसे क्या कहा नहीं? हाँ, अब अब वर्तमान का <laughs> हाँ जी उसमें कितने नास्तिकों के मत हैं आठ है या नौ है आपको याद है सारे या नहीं तो आजकल के अनेक पढ़े लिखो में आपने सुन सुना होगा या सुन सकते हैं ये देखो धर्म अधर्म बुरा और अच्छा दुनिया में कुछ नहीं ये हमारे मानने के ऊपर है सुना है कभी आपने हुँ? हम्म? नहीं आप उसका कैसे उत्तर देंगे कैसे खंडन करेंगे मुझे ये बताओ बोलो कौन बोलता आप बोलो सभी मानने के ऊपर नहीं है स्वामी जी क्यों नहीं है मानने के ऊपर जो जिसको अच्छा मानता है अच्छा उसके लिए उसने अच्छा, जो बुरा मानता उसके लिए वो बुरा है मानने के ऊपर हुआ यदि ऐसा माने तो फिर व्यवस्था नहीं बन पाएगी स्वामी जी चोर चोरी करता है उसको अच्छा मानेगा तो वो फिर उसको अच्छा ही काम हो जाएगा फिर उसके लिए वो बात कहो अपनी कहना सीख लो ऐसे बात कहनी नहीं आती ना इसमें व्यवस्था नहीं बन पाएगी स्वामी जी कैसे व्यवस्था नहीं बन पाएगी इसमें फिर सभी कार्य जो जैसा मानता है हम्म, हम्म। चाहे बुरा हो तो वो भी अच्छा बन जाएगा उसके लिए चोर है वो चोरी करता है हम्म, तो उसको अच्छा मानता है वो वो ये मानेगा की मेरे मैं इसको अच्छा मानता हूँ इसलिए मैं करता हूँ हाँ तो वहाँ उसने मान लिया कि ठीक है तो ठीक मान के चल रहा है उसमें क्या उलझन है उसको फिर ऐसे में व्यक्तिगत उन्नति भी नहीं होगी और जो सामाजिक उन्नति राष्ट्रीय वो तो आपने मान रखा व्यक्तिगत उन्नति होती है ऐसे होती है वो तो नहीं मानता ऐसे व्यक्ति उन्नति होती है ये तो आपने मान रखा है वो तो उसमें उन्नति मानता है और जो अच्छे कार्य है हम्म। व्यक्ति करने वो अच्छे आपने मान रखे हैं आपकी दृष्टि से अच्छे हैं वो जैसे हम जैसे हम अभी वर्तमान में हम ईश्वर के उपासना से या उसके प्रति जो पुरुषार्थ करना होता है हम्म। हम उससे डरते हैं कि इसमें अधिक पुरुषार्थ लगता है इससे वो तो आपने बना रखा है ईश्वर है ईश्वर से डरो आपकी मान्यता ये ठीक है आपके लिए ठीक हो सकती है उसके लिए ठीक नहीं है ये हाँ, तो ऐसे अच्छे कार्यों की ओर व्यक्ति मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए आगे बढ़ेगा नहीं वो नहीं बढ़ेगा क्यों नहीं आपने तो ये मान रखा अच्छा होना ये चीज़ है अच्छा आगे बढ़ने का मतलब आपने ये अपना माना है उसने अच्छा आगे बढ़ने का ये माना है उसमें अंतर क्या रहा दोनों की मान्यता अपनी अपनी हाँ जी आप क्यों नहीं बोलते ऊंचा बोलो <laughs> क्यों जी आया समझ में कुछ कुछ तो उत्तर ढूंढना पड़ेगा उन्होंने जो उदाहरण दिया था हम्म। चोर ये मानेगा कि मैं चोरी करता हूँ मैं उसको अच्छा मानता हूँ हम्म, वो हम्म। अच्छा है तो फिर उसको दंड नहीं दे सकते इस व्यवस्था में और तो दंड देने वाला दंड देने को अच्छा मानता वो नहीं देने को अच्छा मानता उसमें क्या बात है <laughs> दंड देने वाले के लिए दंड देना अच्छा है और नहीं लेने वाले के लिए नहीं मानने वाले के नहीं मान दंड लेना अच्छा है दोनों की मान्यता है अपनी बना रखी है इसमें एक उत्तर स्वामी जी माना जब होता है तब पहले उससे पहले कोई वस्तु हो अच्छा चलो ये बातें व्यक्ति के मन में भी उभरती हैं और दूसरे लोग भी उपस्थित करते हैं तो हम वहाँ कहाँ से बात को पकड़ें कहाँ से उसके साथ बात करें कहाँ से उसको चलाना चाहिए कि भाई ये बात उलझ गई ये तो ये कहता जा रहा है कि भाई जिसको मानो वही ठीक है जो कहेंगे कहेंगे हाँ आपके लिए ठीक है वो कह मेरे लिए ये ठीक है वो यही कहता चला जाएगा कहीं ना कहीं तो रोकोगे उसको आपने कहा ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर प्राप्तम नियम ये होता है वो कहता कि हमारे तो हलवा खीर वो खाने से प्राप्त प्राप्ति हो ही जाता आपका ईश्वर की प्राप्ति में होता होगा हमारा तो उसमें होता है कहेगा ना शाह या नहीं तो इनका समाधान ढूंढना आना चाहिए कैसे किया जाए तो कई बार झगड़े भी हो जाते हैं बातचीत करते करते <laughs> वो जा नहीं तू ठीक नहीं वो कहता तू ठीक नहीं है ऐसे हो जाएगा ना कहीं अच्छा वहां झगड़े भी ना हो और क्रोध भी नहीं आए क्यों तो फिर इसको कहाँ से आर्म करवाओगे इससे या तो कहो भाई आप अपना स्वतंत्र रहो जो आपका ठीक है मानते रहो मैं अपना मानता रहूंगा जाओ आप एक तो ये हुआ आप जैसा मानते मानो यदि विचारना चाहते हो तो भाई हमारा तो सिद्धांत है कि परमाणु से जो बात सिद्ध हो जाए हम उसको ठीक मानते हैं बात करनी हो तो आप क्या कितने प्रमाण मानते हो हम भी किन को मानते हैं पहले परमाणु के ऊपर विचार किया जाए परमाणु से जो बात सिद्ध हो जाती है मैं तो उनको मानता हूँ यदि आप परमाणु के आधार पर बात को सत्य और असत्य को स्वीकार नहीं करते परमाणु के आधार पर तो ठीक है आप स्वतंत्र हैं आप अपना काम करें हम अपना करें समझ में आया तो ईद से भी पार होना पड़ेगा आपको ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी और ये कभी कभी उल्टे विचार व्यक्ति के मन में उभरते हैं तो उन उल्टे विचारों का भी खंडन करने की तैयारी करनी पड़ती है व्यक्ति को और दूसरे समाज में जो लोग बातचीत करते हैं उनकी बातों का भी समाधान उसको करना पड़ता है तो अंतिम लक्ष्य प्राप्तम प्रापणीयम ज्ञातम ज्ञातव्यम इसकी प्राप्ति के लिए आप कितना तप त्याग विद्या अध्ययन परोपकार कितना करेंगे इसके लिए आपको मन बनाना पड़ेगा बुद्धि में ये बातें रखनी पड़ेंगी और इस बात का भी ध्यान रखना होता है मनुष्य का आत्मा सत्या सत्य को जानने वाला है ये नहीं हो सकता कि वो सत्या सत्य को न जान सके ये हो सकता है कोई शीघ्र जाने का कोई थोड़े से काल अधिक लगा ये तो होता रहे पर ये नहीं हो सकता वो उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सके अब विराम दूसरे स्तर पर अब वर्तमान में जो वेदों को पढ़ते हैं विद्या प्रयास कर रहे हैं आधुनिक वर्तमान में पढ़ने वाले उनके द्वारा भी ईश्वर स्तुति करने योग्य है और जो वेदों को इतना नहीं समझते इतनी योग्यता नहीं रखते सामान्य लोगों के लिए भी ईश्वर स्तुति करने योग्य है आज के संसार में पढ़े लिखे लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग ऐसा समझते हैं कि ईश्वर की स्तुति करने से होता कुछ नहीं ये तो केवल रूढ़िवाद है परंपरा चल पड़ी ऐसी मान्यता वाले लोग समझदार नहीं है बेसमझ है ईश्वर की स्तुति करने से व्यक्ति की ईश्वर में प्रीति प्रेम उत्पन्न होता है लोक में संसार में किसी भी पदार्थ की स्तुति करो तो उस स्तुति करने से उस पदार्थ के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है होता है या नहीं बताओ आपने देखा है देख सकते व्यापक रूप में विदेशी लोग अपनी बुरी चीजों की प्रशंसा करते हैं टेलीविजन में विज्ञापनों के द्वारा और भारत के लोग आकृष्ट होकर के धन संपत्ति खो देते हैं ये रोज का कार्य है या नहीं है नहीं समझ में आया उल्टी बातों की प्रशंसा उल्टी बातों का प्रचार टेलीविजन के माध्यम से विदेशी लोग करते हैं भारत के भी हैं और उनको सुनने में समय खोते दिमाग खराब करते खरीदते और हानि उठाते केवल स्तुति करने से हुआ है दूसरी बात जब व्यक्ति ईश्वर की स्तुति करता है तो वह ईश्वर जैसा बनना चाहता है दोहरा लो कोई व्यक्ति धनवान संपत्तिशाली धार्मिक दानदाता की स्तुति करता है तो लौकिक व्यक्ति उस जैसा धनी बनना चाहता है जब व्यक्ति ईश्वर की स्तुति करता है तो वह समझता मानता है कि मैं भी इन गुणों वाला बन जाए ईश्वर जैसा स्वभाव आपने सुना होगा पढ़ा होगा नहीं तो पढ़ लिया करो जो व्यक्ति ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है वह ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभाव का बन जाता है दोहरा लो क्या होता है जो व्यक्ति लौकिक पदार्थों की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है वह व्यक्ति लौकिक पदार्थों जैसा बन जाता है फिर लोग कहते हैं प्रार्थना क्यों की जाए प्रार्थना करने से या ईश्वर हमको बिना कर्म के कोई फल दे देगा अथवा क्या हमारे कर्मों का जो फल है बुरों का क्षमा कर देगा कर्म करो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है ऐसा मानते प्रार्थना करने से व्यक्ति का अभिमान नष्ट होता है आवृत्ति करो जिस अभिमान के रहते हुए व्यक्ति अच्छा नहीं बन सकता वह अभिमान व्यक्ति का बिना प्रार्थना के दूर हो ही नहीं सकता अच्छा आप में कुछ अभिमान है या नहीं है हुँ? है या नहीं है अनुभव करते हो आप ये क्यों है आपको पता है आपने इन पदार्थों का स्वामी ईश्वर को नहीं माना और स्वयं को स्वामी माना इसलिए यह मिथ्याभिमान है जब तक व्यक्ति पूरी सृष्टि की रचना समस्त पदार्थों का रचयिता इनका पालक इनका प्रलय करने वाला ईश्वर को स्वीकार नहीं करता और सारी विद्याओं को रखने और देने वाला ईश्वर को स्वीकार नहीं करता उस व्यक्ति का अभिमान नष्ट नहीं हो सकता मात्रा न्यून अधिक हो सकती है दोहराओ क्या समझ में आ गया जब तक व्यक्ति समस्त सृष्टि की रचना पदार्थों का निर्माता इसका पालक प्रलय करने वाला और सारी विद्याओं से परिपूर्ण हमको विद्या देने वाला ईश्वर को नहीं मानता उस व्यक्ति का अभिमान और सुनो प्रार्थना करने के नियम है कि प्रथम गुणों की प्राप्ति दोषों का प्रतिकार करने के लिए पूर्ण प्रयास करो और फिर मांगो क्या नियम है दोहराओ कितने लोग तो पता नहीं सो रहे हैं वह ध्यान से सुन रहे हैं वो बोलते भी नहीं है और आंख भी नहीं खोलते अब पता नहीं वो ध्यान में सुन रहे हैं या नींद आ रही है या उब गए हैं तो परिणाम निकला यदि ये नियम है तो हम पहले पुरुषार्थ करेंगे गुणों की प्राप्ति के लिए और दोषों के प्रतिकार के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे परिणाम हमको पता चला पूरा पुरुषार्थ करने पर जो हम याचना करेंगे ईश्वर उसकी पूर्ति करेगा अन्यथा तो परिणाम पुरुषार्थ करने में रुचि होती है प्रार्थना करने से दोहरा लो याद रहेगा अब ध्यान से सुना नहीं तो क्या दोहरा हो गया परिणाम निकला बिना पुरुषार्थ के ईश्वर गुणों को हमको नहीं देगा और दोषों को दूर करने के लिए शक्ति नहीं देगा नियम बना तो हमको पहले पुरुषार्थ परिश्रम करना चाहिए परिणाम निकला प्रार्थना करने से पुरुषार्थ में रुचि होती है और देखो कि जो जो व्यक्ति कार्य करता है उसमें सफलता मिलती है तो ईश्वर की सहायता मांगता है अथवा आप देखेंगे जिन उपकरणों से हम अच्छे कार्यों का संपादन कर रहे हैं आंख से देखना कान से सुनना हाथों से खाना पीना वो ये देखता है ये वस्तुएं कहाँ से आ गई ये किसने दे दी और न्यूनता जब दिखाई देती है तो फिर ईश्वर की ओर झांकता है और फिर मांगने की सोचता ये प्रक्रिया आस्तिक व्यक्ति की चलती जो ईश्वर को नहीं मानते वो इस स्थिति में कभी नहीं आ पाते कोई संबंध नहीं स्तुति प्रार्थना पाते तो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना अब आगे आ गया उपासना आप थोड़ा सा सुनेंगे उपासना करने का परिणाम है जो ईश्वर में आनंद है और ज्ञान है बल है उसकी प्राप्ति हो जाती है इसलिए प्रार्थना उपासना करते हैं ईश्वर के आनंद की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति और बल की उल्टा करो अज्ञान का नाश और दुखों का नाश निर्बलता का नाश ये उपलब्धियां होती हैं इसलिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए विराम